विनय पत्रिका श्री नर नारायण स्तुति नौमि नारायणं नरं करुणाजनं ध्यानपारायणं ज्ञानमूलम् अखिलसंसार उपकारकारणं हृदयतपनिरतप्रणतानुकूलं श्यामनवतामरसदामदुतिवपुष छविकोटिमदनार्गणितप्रकाशम् ललित बदन राकेश विपुल बुध करनिकरहासं सकलसौन्दर्यनिधिविपुलगुणधाम पंकज मकरंद अरुणपदपङ्कज मधुपमुन वृंद कुर्वन्ति पानम

मान मन भंग चित भंग मद क्रोध लोभादि पर्वत दुर्ग भुवन भरता द्वेषमस्तर राग प्रबल प्रत्यूह प्रति भूरि निर्दय क्रूर कर्म करता विकटतर वक्र छुरधार प्रमदा तीव्र दर्प कंदर्प खर खड्ग धारा धीर गंभीर मन पीर कारक तत्र केवरा का वयम विगत सारा परम दुर्घट प्रथम खल असंगत साथ नाथ नहाथ वर विरत सी दर्शनारत दास त्रसित माया पास त्राहि हरि त्राहि हरि दास कष्टी दास तुलसी दीन धर्म संबलहीन श्रमित अति खेद मति मोहनाशी देहि अवलंबन विलंब अम्भोज कर चक्रधर तेज बल शर्म राशि मैं उन श्री नर नारायण को नमस्कार करता हूँ जो करुणा के स्थान ध्यान के परायण और ज्ञान के कारण हैं जो समस्त संसार का उपकार करने वाले दयापूर्ण हृदय वाले तपस्या में लगे हुए और शरणागत भक्तों पर कृपा करने वाले हैं जिनके शरीर की कांति नवीन नील कमलों की माला के समान है जिनका सौंदर्य करोड़ों कामदेव के सदृश और प्रकाश अगणित सूर्यों के समान है नौ विकसित सुंदर कमलों के समान जिनके मनोहर नेत्र हैं चंद्रमा के समान सुंदर मुख है और चंद्रमा की किरणों के समान जिनकी मंद मुस्कान है जो समस्त सुंदरता के भंडार अनेक दिव्य गुणों के स्थान और ब्रह्मा वेद विद्वान और शिव जी के द्वारा सेवित होने पर भी मान रहित हैं जिनके लाल लाल चरण कमलों से प्रकट हुए मंदाकिनी गंगा जी रूपी मकरंद का मुनि रूपी भौरे सदा पान करते हैं जो इंद्र से भेजे गए भीषण कामदेव के मद का मर्दन करने वाले क्रोध रहित शुद्ध बोधस्वरूप और ब्रह्मचारी हैं जिन्होंने अपने सामर्थ्य से बिना ही कल्पांत के मारकंडे मुनि को दिखाने के लिए प्रलय काल की लीला की थी जो पवित्र वन पर्वत और नदियों से पूर्ण बद्रिकाश्रम में सदा पद्मासन लगाए एक रूप से अटल विराजमान रहते हैं जिनका अत्यंत अनुपम दर्शन सिद्ध योगिंद्र और देवताओं को भी आनंद और कल्याण का देने वाला है हे विश्वम्भर वहाँ आपके बद्रिकाश्रम के मार्ग में मनभंग नामक पर्वत है जिसे देखकर लोग आगे बढ़ने से हिचक हिचकते हैं और यहाँ मेरे हृदय में अभिमान रूपी मन भंग है जिससे साधन का उत्साह भंग हो जाता है वहाँ चित्तभंग पर्वत है तो यहाँ मद ही चित्तभंग का काम करता है वहाँ जैसे कठिन कठिन पर्वत है तो यहाँ काम लोभादि कठिन पर्वत है वहाँ जैसे हिंसक पशु आदि बड़े विघ्न हैं तो यहाँ राग द्वेष मत्सर आदि अनेक बड़े बड़े विघ्न हैं जिनमें से प्रत्येक बड़ा निर्दय और कुटिल कर्म करने वाला है यहाँ कामनी की अत्यंत बाकी चितवन है छूरे की भयंकर धार और काम का विष ही तलवार की तेज धार है जो बड़े बड़े धीर और गंभीर पुरुषों के मन को पीड़ा पहुँचाने वाला है फिर हम सरीखे निर्बलों की तो गिनती तो ही क्या है हे नाथ प्रथम तो यह आपके दर्शन का मार्ग ही बड़ा कठिन है फिर दुष्ट और नीचों का मेरा साथ हो गया है सहारे के लिए हाथ में वैराग्य रूपी लकड़ी भी नहीं है यह दास आपके दर्शन के लिए घबरा रहा है फंदे में फंसकर दुखी हो रहा है हे नाथ दास के कष्ट को दूर कर इसकी रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए मुझ दीन तुलसीदास के पास धर्म रूपी मार्ग व्यय कलेवा भी नहीं है मैं थक कर बड़ा दुखी हो रहा हूँ मोह ने मेरी बुद्धि का भी नाश कर दिया है अतएव हे चक्रधारी आप तेज बल और सुख की राशि हैं मुझे बिना विलंब अपने कर कमल का सहारा दीजिए